ना थोड़ी अर्थावड़ी भी करो ठाकुर साहब अर्थावड़ी में करता जाओ आपको थोड़ा अर्थावड़ी करो दिखाए बीच में अर्थावड़ी हाँ, हाँ, अब और गाव जी की अब गाओगा जी की अब गाऊंगा जी की हाँ भाई कहीं चीज है कहाँ से शुरू हुई कहीं आगे बढ़ी ऐसा तो थोड़ा थोड़ा भी करो नहीं आगे बनी बताओ अभी आ जाओ कहीं देखो अब बात तो गए बात तो खां की मऊ मऊिया अच्छा कहाँ से थी यो मऊ बोर्ड तो जहाँ भीम सागर अच्छा अच्छा हाँ एगो एगो एगो झालावाड़ के पास झालावाड़ हाँ, हाँ असनावर के पास असनावर के हाँ, गोडे ये भीम सागर बंदू ना बात हाँ बंदे बंदे वहीं बंदू वहाँ मेलान हाँ, मऊ का मेल में मऊ का अच्छा वहाँ बंदे वहाँ की बात है वहाँ खींचान को रात चो हम्म। सुने ना हम्म। वहाँ के चाहिए एक लड़की सुने ना हम्म। जे वो लड़की को संबंध खां करियो चो रीछ हुआ बकानी का ओला डी રીંછ હું રાઠોડ આણગ્યા કર્યું છું तो वहाँ का राठौर था लक्ष्मण सिंह जी वो भी जागीरदार था तो वहाँ क्या संबंध जो वो परनबा कांड आया था यहाँ अच्छा ना जी यहाँ मारा या बात है मागे ठाकरान गया बात राड ब्यावान में हुई जे लड़मरिया लड़मरिया जे जोरदार था जे या बात लड़ लड़ा के नहीं खींची ने तो बगा दियार वाने कब्जो कर दे वही रे बला वही रे बला तो वहाँ से जायरा नगर नवाने जो हुआ के आबाद के लड़को पैदा हो जिनको नाम प्रति रात ओ ओहो उनका छे कड़ा उनका कड़ा अब हाँ। ये आगे जाकर लड़ाई लड़ी मामा जी मारी आई ने हाँ। फिर वहाँ दिल्ली का बादशाह में जाकर के नहीं की हाँ। पुकार करी उन्होंने वहाँ जो मामा जी को लड़को छोड़ जी वहाँ से फिर बादशाह ने वो खंदायो मान सिंह जब फैली तो कोई माँ वो और ने बीड़ा वीड़ा खाया जब कोई भी डर गया सब ना आया जो फिर राजा मान जो छो हम्म। वहाँ को सेनापति जयपुर को सेनापति हाँ। वो आयु थी यहाँ चढ़ करके और यहाँ लड़िया थे मऊ पर यहाँ लड़ाई हुई है दिल्ली से आई और फौजा हम्म। और यहाँ लड़ाई हुई है लड़ाई हो करके नहीं फिर यहाँ यहाँ ऐसा फेरियाबाद है जो लड़िया ना हम्म। जिनकी तरवार टूट गई लड़ाई में पृथ्वीराज पृथ्वीराज की जिया यहाँ यहाँ से घोड़ो बगा दियो हाँ। ये खलची पर मैं जाकर नहीं गाँव बसायो गागुल नहीं गागुड़नी ने जी आज चालीस हजार को ठिकाना आज भी राठौड़ान की बसाई हुई है अच्छा बड़ा के पास को राठौड़ ठिकाना छे नहीं कड़े राठौड़ यो ये तो अलग ये ये तो वो राठौड़ अच्छा और आप काई काई बताओ और काई काई बताओ यही बता इस तरह की मतलब और भी काई काई सुना सको कोई कान किस्सा आता हो पुरानी बात आती हो समाप्त कर रहे ये समाप्त कर देना बात ये और थोड़ा बहुत और सुना सको ना और सुना जान सुनाओ ना आज आज आप यहाँ सुना मामा जी लंबा है थी वेरी आज थोड़ी मारे रोया के राड का बूंदी के घाटे की राड है राड भी तो पांच सौ मामा कर इसका माँ कर इसका आज मामा का नहीं राड करा जा बीच बीच में वो बोलता भी जाओ तो बोले ये यहाँ सुन महाराज ना फिर यहाँ सब होशियार हो गया सब यहाँ ने कि हमारा मामा जी मलबा कारण जाऊं दिव्या का मामा जी मलबा कारण किया था उन्होंने जो वहाँ कहाँ गया मलबा वहाँ नगर नुआनी अच्छा जब यहाँ का मामा मामी ने मनवार करी निवाने किसी रियासत में नगर नेवणो वो बूंदी में बूंदी में तो है बूंदी में ही है हां मतलब बूंदी में बूंदी में गया तो वहां आकर के नहीं यहाँ का मामा मामी ने मनवार करी हम्म। तड़के दलुजिया या बाद एक यहाँ का मामा जी को लड़को जो तो जी को नाम तो चंदो कमर अच्छा सुने ना हम्म। <coughs> हाँ, हम्म। चंदो ही तो पी तो रे दोनों घोड़े ठान परे अरे मामा रे बवा का भाई एक तो बचेरो रे चंदा याद बंदियों स्थान के रखे चिड़िया दाम नहीं तो गोड़ो रे बवाजी का मोल लियो अरने चढ़ मारिया गांव घर की गोली नर गोड़े लो दियो जा का नैन सुख आया नाम हम्म। मोती तो बचेरे रे चंदा बाई थार चढ़ो अर नैन सुख पर तीराज खुरी तो रेड़ा जार मानक चौक में जे आपन के सारे खुला रज पूत हम्म मंजाई तो घोड़ा रे भवाजी का नर मले अर न मले मांजा गाँव गाँव घोड़ा को रे नैना साबलो जी मारे चाकर रे बाया तेरी सी बात को मामा जी का काई रे के जो अरे के देने सोचे बचार ऐसी तो ते मोलू रे थारे थाप की जे थारे मुखेड़े जड़े गोतमो हम्म, हम्म। कालो ही तो कालो रे बवाजी का डावेलो अरिया पे चले बोले बोल ऐसी तो मोड़ू रे रूले ताशेले की जाने हाल में दमोली हाल शेल का ही होगा यो शेल जो मालो हाँ आडाई चोपड़दारे जाला रानी जवाब करे अरे सुन लीजिए चंदा का बाप तू जान जान रे पिसो आयो पावनो जियो तो बैर बांध घर जाई तेरी सी बात को मामी मारी काई रे के अरे के सोचे बचार लांबी तो बाया गिरी पे राजू का चली जे माँ तो मामा जी ने रालेगा मार देर तो लंगारो रे दल के पूछे वो यार अरे हाथीड़ा पे उड़े थे नशान सब गले ठाकर गूगल रे से म्या जय नलिनी रे महू की गेल गमशाई तो पीतोरे ने नो बड़े पोल गयो अरे गम से ले जाय सीढ़िया तो उतरे तारे माजी मल गया ते जान सर पर फेरो हाथ हड़क मड़क माजी ने जोड़ा रे लिया अरे सर पर फेरिया मामा जी के गिया चार प्यारा पावना ये तान काई रे मोज में गाँव हड़क मड़क का मामा जी ने जोड़ारी लियो अरसर पर फेरियो हाथ मारा तो मामा जी ने रे कर पा करी जे मान दियो रे री छे वो गाँव रीच वो बेकानी रे नैना तारा बाप को अरे क्यों रे करो बदनाम घोड़ो ही तो ले तोरे मामा जी से नैन सुख्यो जे थारो ये बचल रे तोरा गोड़ोई तो ले तोरे मामा जी से नैन सूख्यो अरे काटी से गटे लिया गाँव बैसक ले तोरे देश ढूंढाड़ की जे तू लागे चोबाण मांगाई तो घोड़ा रे माता मारी नर मले अरे मले मांगा गाँव गाँव घोड़ा को रे माता साबलो जीवा के चाकर रे बाजाए हा बातो दीजे रे ने नैना सावन बादेवा अरे या बादरा रात वार राखी तो बादुरे चंदा कंवर के जे माँ तो नैन सुगला डोर हम्म। मांगाई तो घोड़ारी माता मारी वेरे चढ़े अरे चारण दूजो भाट बेटो तो, तो के मोरी छतरी रजपूत को जे माँ तो, तो लावेगा बुझा के पान ये पति राजी ढोला सक कहेंगे वो राजी <coughs> हाँ, राज लड़ा <coughs> यहाँ तो ये बातें अच्छा। हुई अब ये बताओ अब वहाँ चंदाना कायगिरी का मामा का ना केड़ावता भी आवे दो केड़ावता काई की की और को जिसना बार सुनाई थी आपने ये ढंग की और कोई नाग जी की होवे तो बात ही आती हो काई काई એ ફરી આવે પણ જેથી ટાઈમ પાસ આવે યાદ જઈએ માતાજી કે જશો માતાજી કે જશો જશો યાદ માતાજી કે માતાજી के जशो नारायण में नहीं नारायण की वो ब्रह्माणी रानी ब्रह्माणी हाँ माता जी वो यहाँ नारायण वाण को चालू कोई ना मांगे जी माहिती आज कोई ना मारा हम्म हाँ हीरामन जी की तो तो आवे मजा की तो कहते हैं बात है बगड़ा उतान की ना कैसे राग में गाओ दसन गाओ में गाओ हां गाओ में गाओ तो बीड़ी है कि बीड़ी का आग पर कर गाओ यार मंगा लेना जो village near Banjari. Banjari is about 15 kilometers from Chipabadot. Uh, we have come here for seeing the uh, dancers being invited by the the Mina family the drummers would appear from the village itself. इस भक्ति को तो कहीं रखवा दें अच्छी जगह ललित भी है हाँ वो ले वो उसी ले ले इस पे या सकते हैं यहाँ पे तो पल्ला गुल्ले पे हाँ, ऊपर तो गिर जाए नहीं नहीं तो ऊपर आ रे बात रे बात